ये यहाँ पर देखने आ रहा है नहीं सुविज्ञेयम सुष्ट विज्ञेयम श्रुतम अपनी प्राकृत अर्जुन ही और स्पष्ट कर दिया क्योंकि प्राकृत जन के द्वारा सुनने के बावजूद भी न सुष्ट निश्चय सम्यक निश्चय वस्तु ये नहीं प्राकृत अर्जुन क्यों कहा क्योंकि देवता आरोप संशय दूर विचार या तो उन्होंने सम्यक प्रकार से जान दिया विषय तो नहीं स्वरूप तत्व ने जान अनुभव कर इसी प्रकार से यहाँ पर भी यदि आप प्राकृत जल नहीं है तो अर्थ तो जरूर है इसलिए प्राकृत अर्जन नहीं है क्यों ऐसा है क्योंकि अणु हो सूक्ष्म आत्माख्यो धर्म एश आत्मा नाम का जो ये जो है वह अणु है सूक्ष्म धर्म वाला है धर्म धर्म क्यों कह रहे हैं यहाँ क्योंकि धर्मत्म च आत्मा सर्व अनात्म धारक आत्मा के अंदर धर्म तो कहां से आ गया कहते सर्व अनात्मंग धारण करने वाला होने से इसको हम आत्मा कहते हैं ऐसा पहले एक कह चुके हैं अतो अन्यम असंदिग्ध फलम वरम नचके तो इसलिए क्या है जब देवताओं के भी संशय है तो तुम्हारे को कुछ भी संशय होगा पता नहीं तुम निर्णय कर पाओगे या नहीं कर पाओगे इसलिए इस विषय की चर्चा करके फायदा एक संदिग्ध फल है ना फिर ऐसे बहुत छड़ के फायदा ही इसलिए उस आत्मा के बारे में तुम जानना चाहते क्यों हो जब देवता लोग संशित हुए बहुत परिश्रम किया उन्होंने तब जाकर बड़ी तपस्या की और एक सौ पांच साल तक बेचारा इंद्र ने जो नाक रगड़ा ब्रह्मा जी का तब जाकर के उसको ब्रह्म ज्ञान मिला था कम है क्या फिलहाल महर्षि के पास एक साल तक उन्होंने रगड़ा और तभी तारे कह रहा था तो हो सकता है मैं नहीं जानता हूँ तो बोल दूंगा मैं नहीं जानता लेकिन साल भर तुमको सेवा करो उसके बाद पूछूंगा साल भर सेवा ले लिया अब बाद में कहा पिपला जी मैं नहीं जानता चले जाओ क्या था कुछ नहीं कर सकते लेकिन ये था पहले जमन में धैर्य विश्वास श्रद्धा भक्ति निष्ठा ये पांच चीज कठिन वस्तु है ये ये पांचों जहां होगा वो व्यक्ति अधिक रहेगा और वह पत्थर का मूर्ति से एक अलग जैसे सर्व ज्ञान को प्राप्त ये तो जिंदे मूर्ति थे पिकुला जी उनसे आत्मा द्वारा अपने आप प्रकट क्यों नहीं होता वस्तु आपके अंदर श्रद्धा है यहाँ गधा भी बैठा है देवी बोल पड़ेगा और वो बात बोल पड़ेगा जिस आपकी श्रद्धा परिपूर्ति चीज है और ऐसे लोग बैठ जाए तो बोलने वाली क्षमता वाला विद्वान भी देना पड़ेगा क्या है इच्छा ही नहीं हुई बोलने इसलिए निर्भर होता है श्रोता के ऊपर वक्ता के ऊपर नहीं है वक्ता तो समुद्र है उसके अंदर बहुत ज्ञान भरा पड़ा है बताए क्या क्या चीज लेकिन उसके मुख से क्या निकलवाओगे ये आपके ऊपर निर्भर है आपकी श्रद्धा पर निर्भर है आपकी निष्ठा पर निर्भर है आपके विश्वास पर निर्भर है आपकी भक्ति पर निर्भर है आप क्या निकालना चाहते क्योंकि बोलता व्यक्ति नहीं है स्पष्ट है वहां पर यो वाच मीमाम संजीव ये अखिल शक्ति इस वाणी से हम नहीं बोलते हैं जो अहंकार बोले लगेगा तो बोल ही नहीं सकता हम तो घबरा जाए बोल नहीं सकता जो अहंकारी होता है अगर तो माइक पकड़ा तो बोल नहीं सकता घबरा जाता है तत्व के चिंतनी वर्ग कर बाकी बातें कर सकता है कहानियां बोल सकता गीत गा सकता है लेकिन तत्व चिंतन की बात जहाँ पर आएगी वो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वह अहंकार काम नहीं कर सकता और तो परमात्मा उसके ऊपर ही छोड़ेगा तो वही बोलेगा तो वास्तविक तत्व आप तक पहुंचेगा नहीं तो नहीं इसे यहाँ पर कहते कि देखो कि वो जो है ना कैसा है कहते अनु आत्मा के धर्म तो अन्यम असंधि मतलब ये संदिग्ध फल वाले इसको छोड़ो क्योंकि इसके फल का कोई निश्चय नहीं तुम जान पाओगे नहीं जान पाओगे बस देवता लोग रड़ के खा गए हार गए और कई तो पीछे हट गए विरोचन आई तो वहीं लौट गए पहले से ही इसीलिए संदिग्ध फल वाला इस आत्म वर को त्याग दो और असंदिग्ध फल वाला अन्यम वरम नचिकेतो वृणेश्वर अन्य किसी वर को ही नचिकेता तुम कर करो माम ने माम ही उपरोधम माँ कार्षी अधमरणम उत्तम जैसा घमंड को उत्तम डान टपट करके जबरस्ती छेन लेता है उसे नहीं तेरे को देना पड़े व्याज सीख दो डबल व्याज लगेगा नहीं जबरदस्ती होता है वैसे ही आप तुम मेरे को जबरदस्ती मत करो मत रोको इस विषय में और तीसरे जो विमुंच एनम माम ने माम प्रत्येवा मेरे प्रति इस ईश्वर को तुम त्याग देना छोड़ देना और इस पर तुम मेरे को जोर मत दो क्योंकि दुख बोध्य है संदिग्ध है ऐसे निश्चित नहीं है जिसका फल अंत जो निर्णय नहीं हो पाता या अनुभव होने की संभावना भी नहीं है ऐसी चीज के बारे में क्यों चर्चा करना क्यों समय गंवाना खेलो कूदो आनंद लो पुत्र पौध मौज मस्ती लो सब दूंगा मैं तेरे को ऐसा करके वो फिर आर्थित के जो है परीक्षा डाला है अब आर्थित परीक्षा में सफल होगा नचिकेता अगले मंत्र में देखेंगे यमराज जी ने विद्या और चित्र के बारे में जानने के लिए कहा कि भाई देवता लोग भी इसको नहीं जान पाए आसानी से इत्यादि के द्वारा निवारण करने की चेष्टा किया निवृत्ति करने के लिए तो या तो ये जानकर अत्यंत कठिन है इसलिए विश्राम को पावे जिसे कई लोग सुन लेते हैं लघु बात करना मुश्किल है भाई बहुत कठिन है बहुत रटना पड़ता है उनके ही छोड़ रहे अपनी बस की बात है कुछ लोग थोड़ा संधि प्रकट मुश्किल से कर पाते हैं इतने में छोड़ देते हैं प्रमाद और कई तो उपेक्षा कर रहे छोड़ो क्या काम है पढ़ना लिखना ब्राह्मण का काम बदले साधु सीता तो देखना चाहते थे यमराज जी जी ये भी ऐसे ही लोगों में से तो नहीं है फिर उसके जवाब में नचिकेता तो इसलिए कहता है हम ऐसा नहीं है देवैरत्राप विचिकित्सित किल पंच मृत्यो यन्न वक्ता चास्वादृगन्यो न लभ्य नान्यो वरस्तुल्य तस्य कश्चित देवैरत्रापि विचिकित्सित किल कहते हैं आपके ही मुख से मैंने अभी जान लिया हे मृत्यु इस विषय में निश्चय देवताओं को भी संदेह हुआ था और बहुत विचार करके परिश्रम करने के बाद उन्हें भी कुछ पल्ले में पड़ा पंच मृत्यु और हे मृत्यु आपने ये भी कहा कि यह न स्वीज्ञ यह स्वीज्ञ नहीं है ऐसे भी आपने कहा ऐसे कहते हुए हमारे अंदर और जिज्ञासा आपने बढ़ाया है घटाया नहीं हमें और उत्सुकता हुई और कुतूहलता मेरे अंदर बढ़ रही है ये ऐसी चीज तो जरूर जानना चाहिए वक्ता चाद्रगण्यो न लभ्या और दूसरा ढूंढू संसार में एक महान पंडित को विद्वान को कभी तो आप जैसा कोई दूसरा मेरे को मिलेगा तो। नान्योवर हकुलिया ये तो सुकष्ट है इसलिए एतस्य इस आत्मतत्व संबंधी यह जो वर है इसके तुल्य कोई दूसरा वर हो नहीं सकता है देव ही भाष्यकार कर देव ही अत्रापि वस्तु नहीं अत्रापि में वस्तु नहीं आत्म विषय ब्रह्म विषय विचिकित्सन किल बहुत एवं न श्रुतम पूर्व भी संशय ग्रस्त थे यह बात हमने आपसे ही सुना भवत न श्रुतम आप ही के द्वारा हमने जान लिया है जो यमराज जी के वचन में ध्वनित जो अर्थ था छिपी हुई बात को अच्छी तरह से पकड़ लिया नचिकेता है तभी ये बात कहता है आपसे मैंने जान लिया है अब ये वो चीज है जिसके लिए देवता लोग भी तरफ और वो भी उनके भी मस्तिष्क के संशय से ग्रस्त हुआ बड़े परिश्रम से उन्होंने पाया निश्चित से देवगन क्यों चाहेंगे इस चीज को इसलिए कि परम पुरुषार्थ का विषय होगा परम श्रेष्ठ का साधन होगा नहीं तो उनके पास क्या कमी है क्या कमी है उनके पास खाना पीना मौज मस्ती क्या चीज की कमी है संकल्प मात्र संत सब कुछ जब प्राप्त है तो इसका पीछे क्यों पड़ आप ही केवल संकेतित हो गया है कि यह परम निश्चय का यह बात हमने आपसे अब जान लिया है पंच मृत्यु परिचय नहीं हे मृत्यु आप जो है यदि अस्मात न स्विज्ञम आत्मतत्व था जिसमें आपने खुद कहा है कि ये जो आत्मतत्व है वह सुविज्ञ नहीं है आसानी से पकड़ में आने वाला चीज नहीं है हथ साकार कर दिया कथई उसे अतः पंडित उपदेश नियतवा इसलिए निश्चय ये हुआ यह पंडितों के द्वारा उपदेशनीय है पंडितों के द्वारा ही उपदेश है देव विचार का विषय दुर्गीय है तो अपंडितों के निश्चय से उपदेश उपदेश करने योग्य नहीं जिस विषय में देवता भी संशित हो रहे हों ऐसे विषय को क्या अपंडित इसका वक्तव्य कथन कर सकता है असंभव निश्चित रूप से पंडितों के द्वारा ही ये उपदेश भी और पंडित किसको कहते हैं पंडा विवेकशाली बुद्धि अस्थिति पंडित वक्ता चाह सर्वस्या इतना ही नहीं जिस धर्म में अनुरेश धर्म कह दिया है जिस आत्मा का सूक्ष्म धर्म है उसको देवता लोग संशयग्रस्त में और आप भी देवता ही तो हैं कि यमराज जी कोई अलग है क्या तो आप भी उसी में से थे और आप उसको जान लिए तभी आप कह रहे इसको मेरे पर छोड़ देना ये नहीं जानते तो आप कह देते थे भाई मैं इस प्रश्न का जवाब नहीं जानता ऐसा आपने नहीं कहा इसका मतलब जरूर आप जानते ठीक है तो बहुत तेज खोपड़ी है देखिए कहता है आप जरूर जानते हैं नहीं जानते तो मना करते हैं इसलिए आप जैसे पंडित कौन वहां से ढूंढ के लाऊंगा कि देवताओं में से आप हैं आप भी देवताओं के जैसे संशय को प्राप्त करके विचार के द्वारा विद्यासन आदि द्वारा इसको अनुभव कर चुके हैं इसे आप जैसा वक्ता अस्य धर्म से साधिक साधिक का मतलब तत्पुर अन्य पंडित न लभ्य अन्विष्यमाण होती है क्योंकि आपके पुण्य कोई दूसरा पंडित अन्वेषण करने पर भी हमें मिल ही नहीं सकता क्योंकि एक तो आप धर्म का देवता भी साधारण देवताओं में से भी नहीं है ना आप जो धर्माभिमानी देवता है धर्मराज भी कहते इसलिए यमराज और धर्म के विरुद्ध आप कुछ बोलेंगे भी नहीं और कौन से धर्म में पूछ रहा हूँ वो अनुधर्म को पूछ रहा हूँ इसलिए आप निश्चित रूप से उसको जानते हैं इसलिए आप जैसा पंडित को मैं ढूंढूंगा तो भी दूसरे हमको ढूंढ नहीं सकता प्राप्ति और देवताओं ने इसके संघर्ष किया है इससे ज्ञापित ये हो गया कि ये जो वर है ना निश्चित प्राप्ति का साधन ये भी आप ही के वचनों से ज्ञापित हो गया है अयंतवर श्रेय भाग्य देव देवई नूनम निश्रेषार्थम एवं तद विचार आलोचना निश्चित रूप से देवताओं ने इसको निश्रेष का साधन मान करके ही विचार किया अतः नान्य वर्ग तुल्य सदृशो अस्थित इस वर्ग के सदृश कोई दूसरा वर्ग हो नहीं सकता है अनित्य फल अन्य सर्वस्व अभिप्राय क्योंकि अन्य जो कुछ भी होगा वह निश्चित रूप से अनित्य फल वाला होगा इसमें कोई संशय नहीं अन्य सर्वज में पशु पुत्र एवं उत्ता पुनः प्रलोभयन निवाच ऐसा करने के बावजूद भी यमराज जी देखते हैं कि भाई ऐसे तो लगता है पक्का विद्यार्थी है कि छोड़ने वाला ही नहीं हम्म, पीछा पड़ गया है छोड़ेगा ही नहीं ये अब क्या करें अगर कुछ प्रलोभन दो देखो कहीं इसके चक्कर में आ जाए विद्या की अर्थित्व तो, तो इसके अंदर पक्का है लेकिन वो अर्थित्व तो कहाँ तक टिकेगा कितने समय तक टिकेगा ये देखना पड़ेगा वो भी परीक्षा ले लिया जाए क्योंकि अर्थित्व लेकर के सभी आते ही हैं सभी अर्थित्व को लेकर आते हैं लेकिन वो अर्थित्व टिकता नहीं है कितने यहाँ चेहरे बदल गए हैं पहला दिन स्वराज में कुछ हट रहे कुछ नए आ जा रहे संख्या तो उतनी बनी हुई है त्रिश इसका मतलब क्या है अड़तीस उन लोगों में ढीला पड़ गया तो क्या देखने आए थे तमाम तो पिछड़ गए थी तो ये देखना चाहते हैं कि ऐसा ना हो नचिकेता भी अस्तित्व तो इसके अंदर मजबूत लग रहा है किंतु हो सकता है इसको कुछ प्रलोभन दे दे पीछे इसलिए प्रलोभन वाच मृत्यु हो प्रलोभन देता हुआ मृत्यु हेमराज जी कहते हैं शतायुष पुत्र पौतान ग्रीष्म गुहं पशुहस्ति हिरण्यमश्वान् भूमिर्महदायतनं गृणीष्व स्वयं च जीव शरो यावदिच्छसि पुत्र पौत्रान कहते हैं नचिकेता तो सौ वर्ष की आयु बेटे और पोते एवं बहुत से बहुन पशुन हस्ती जन्यम अश्वान बहुत पशु हाथी हर पशु से यहाँ गाय लेने इनकी गौ से ही पहले जमाने में दक्षिणा व्यवहार होता था वही पैसा था लेन देन में गो ही दिया जाता था और सारा व्यवहार होता था इसलिए पशु से यहाँ गो लेना और हाथियों को हस्ती बल भी चाहिए सेना के अंदर हिरण्यम धन भी चाहिए नहीं तो राज्य के चलेगा कोष के बिना अश्वान और घोड़े भी चाहिए ये सब कुछ है लेकिन इनको खड़ा भी कहा गया हूँ महदा इतना विशाल आयतन वाला महान भूमि मैं तुमको दे दूंगा स्वयं जीवा पहले तो कह दिया विस्तृत भूमंडल का राज्य भी मांग लेना वो भी दे देता हूँ वृणीशों ने मांग लेना वो भी हम तुमको दे दू और स्वयं भी जितने वर्ष तक जाओ उतरे वर्ष यावत इच्छसी तावत शरदो जीव शरद मैंने समझ यावत रही इच्छसी तावत समझ रही जीव सब देना पहले कह दी फिर बाद में लोप लोप तो देना है ना चलो इसे नहीं माने तो फिर और ज्यादा बढ़ाओ इसको और बढ़ाओ जैसे होता है ना कि कहीं बोली बोलते तो क्या करते हैं आपको माल चाहिए अब क्या करते उसने कहा दस आप देंगे ग्यारह अगले ने कहा बारह आप देंगे तेरह चलेगी नहीं चलेगी ऐसे तो तब तक जब तक आपका माल नहीं बने तब तक कुछ पड़ेगा नहीं उसी तरह यहाँ पर भी यमराज जी चाहते जब तक ये प्रश्न को छोड़ेगा नहीं तब तक सब प्रलोभन दे दे ही सौ हजार दस हजार बीस हजार अरे जितना ये लो आई तो लो मांग करो तो ईश्वर के जगह पर दूसरा चीज मांग लो ये छुड़ाने के चक्कर में ना तो इसलिए सुधायुष कर शतम वर्षाणी आयुष ये शांत पुत्र को शतम वर्षाणी आयुष ये शांत सौ है आयु वर्ष आयु जिसका ऐसा करते शतायुष पुत्र पौत्राण वरीश्वर पुत्र पौत्राण पुत्र से पत्यान पौत्राणी वरीश्वर नाते पोते पर पोते सब किंच गवादि लक्षण बहुन पशु देखो खाली ना गवादि रूप बहुत सारे पशु आदि के लिए के बकरा वगैरह भी चाहिए ना यज्ञों में जरूरत पड़ जाता है पशु आदि अभी विशेषा कहा है जिस याग में पशु विशेष का नाम नहीं लिया गया है आज पशु का करना है तो छाल से करना है विभिन्न आदि कहेंगे पशु हस्ती हिरण्यम हस्ती चिरण्यम चिरण्यम अश्वांश अश्वांश अश्वानाम हस्ती हिरण्य अभ्यम अभी श्रेष्ठ विवक्ष अलग से क्यों गिनाया क्यों हस्ती और हिरण्य के पेशा से श्रेष्ठ कौन है घोड़े तो पहले वही जो माना था घोड़े मुख्य साधन थे घूमने फिरने संदेशा भेजना सेना में भी मुख्य उसी का रथों के लिए भी घोड़ों की जरूरत थी इसलिए महान बल में प्रयोग किया जाता था ये चीज इसलिए कहता अलग से गिनाया अस्पृश्य भूमि है पृथ्वी महद विस्तीर्णम आयतरम आश्रम मंडल साम्राज्य महान मंडल साम्राज्य मंडलों से साम्राज्य महान राज्य का कर्तव्य पड़ा होगा तो मांग लो वो भी मैं दे दूंगा ये सब है इनके सौ साल जी के क्या मजा आएगा सब रहते हुए सौ साल जी के तो कौन सा बड़ा बात सौ साल साल जीने वाले कई है तो मैं भी उसने बराबरी देगी तो फायदा क्या होगा ये ऐसा मन में आ जाए इनके ऐसे भी लोग है ना जो एक सौ तीस एक पैंतीस साल में जीते आज भी है अब वो जमाने में सतायु कर दिए तो कौन सा बड़ा काम तो ऐसा मन में ना आवे इसलिए कहता है इंचा सर्वपेद नर्तकम संच जलपायु हो ये सारी चीजें व्यर्थ ही हो जाएंगी ये स्वयं केवल स्वसरायु हो तो अल्पायु है इतः स्वयं जीव तम जीवाधार्य शरीरम समग्रेन्द्रिय कलापम इंद्र कलाप से ये नहीं कि ये कान सुनाई कम दे रहा है आंग दिखाई कम दे रहा है जैसे उम्र बढ़ते बढ़ते ऐसा नहीं सकल इंद्रिय बिल्कुल फिट रहेंगे कोई चीज में जो है कमी नहीं होगी न चंद्र प्रजा चवन खाना है न चंद्र प्रजावटी खानी पड़ेगी तेरे को सारी इंद्रिया बिल्कुल तो फिट रहेंगी ऐसा शरीर को तुम धारण कर लो कोई दिक्कत नहीं है शरद वर्षाणी शरद कर वर्षाणी पीछे कार ने अमर कोश भी दिया है चाह हमारा सम्मत सरोवत दो हायनु अस्त्री शरत समा अमर कोश कार ने शरत शब्द ऋतु विशेष का नाम भी है तेन शरद यहाँ संवत्सर में भी प्रयोग होता है तो वर्षाण यावत से जीवित यावत जितनी तुम्हारी इच्छा और क्या कहा इससे ज्यादा बहुत क्या सकते हैं पहले सौ कह दिया फिर अब हजार दो हजार नहीं कर रहे हैं करे जितनी तेरी मर्जी उतना जैसे कोई सामान आपको लेना भी होता तो कई बार होता है अरे जो रेट लो आप दो तो सही कांदार से नहीं छोड़ोगे कई बार वो इधर उधर करेगा तो क्यों आपको चीज चाहिए तो आप फिर देखेंगे नहीं ये दस रुपये फालतू मांग रहा है आप दे देंगे तो उसी प्रकार यहाँ पर नचिकेता को फंसाने के लिए यमराज जी को सौदा कर रहे हैं इधर तरफ सौदेबाजी चल रही है यहाँ पर कभी चित्री चौथ आई तो। पिंड छोड़ बस भाग यहाँ और इच्छा अनुसार जो है जीवित यदि काल सामान्य नपुंसकम न तो शरद विशेषण पदार्थ काल सामान्य का विशेषण है भाषिका तो इस तरह से कह दिए आप कहते ये तुल्यम इतना ही नहीं यमराज जी बोलते जा रहे हैं देखा कि उसके ऊपर कोई असर नहीं कर रहा है वो मस्त है कोई फर्क नहीं दिख रहा उसके चेहरे पे अगर ये तत्ल्यम यदि से वरम रीश्व वित्तम चिरजीविकांच महाभूमौ नचिकेतत्वे भी कामान पक्कम भाजम करोमी पहले विशेष नाम लिया कुछ कुछ चीजों को है ना शतायु पुत्र पोत्रान पशु हस्ती हिरण्य अश्व विशेष नाम लिया रंग जितनी मर्जी उतनी आयु लेना आप सामान्य से कदम कर ये मत सोचो जितना मैं किन रहा हूं ही तुम मांग सकते हो ये नहीं बल्कि ये जितने हमने कहा है इसके तुल्य और भी जो कुछ भी है संसार में तुम मांग सको वो मांगना लेकिन सांसारिक पदार्थ मांगना आत्मविज्ञान इसको छोड़ो ये तो तुल्यम यदि मन से वरम ये तो तुल्य मने पुत्र पौत्र आदि तुल्यम तो आत्मविद्या तुल्यम ये नहीं अब आरंभ हो चुका प्रलोभन उसी के सौर क्षेत्र को लेना है इसलिए एकत्व मने ये जो पुत्र पौत्र आदि कहा गया इनके भी सदृश और भी जो कुछ भी तेरे मन में ये हो मांगने की इच्छा हो वो भी तुम मांग ले वो भी दे मित्र धन दौलत छिल जीविका इच्छसी भी नहीं चिरंजीवी सीधा देखो और बढ़ा दिया चिरंजीवी क्योंकि यावचा मन में इच्छा आ गया ऐसे होता है ना वो कहीं गड़बड़ ना हो जाए इसीलिए शायद बोल रहे हैं ये चिरजीवी का कर एक वगैरह आदमी था बहुत दुखी था बहुत गरीब था कोई सामान ढोते ढोते परेशान हुआ थक गया था एक पेड़ के नीचे बैठा उसे मालूम नहीं उसे ये मालूम नहीं था कर्म वृक्ष है और जरूरी है दृष्टान क्योंकि उसने वहां लेटते ही मन में संकल्प अरे कोई मेरे को थोड़ा बढ़िया शरबत पिला देता खट से शरबत आ गए ये तो कमाल है फिर भोजन बढ़िया मिल जाता हमने फर्स्ट क्लास थाली छप्पन प्रकार के बोलो आनंद आया कितना अच्छा है तो एक पलंग लग जाता खा लिया डकार लगा बढ़िया पलंग लगता बढ़िया नींद आती मेरे को फर्स्ट क्लास पलंग ये भी कहा सिंह आ जाता तो आई क्या वो खा लेगा तो वो खा ही लिया सोचते सोचते वो भी क्यों सोचा पा तो ये भी हो सकता है सताई हुई नहीं यावर इच्छा से करने के बावजूद भी मन में ऐसे उल्टा इच्छा आ जाए तो इसलिए कह दिया भाई तुम्हारी घबराहट करने की जरूरत तेरे मन पर तुमको तो भरोसा नहीं नियंत्रण नहीं है तो अपने तरफ तरफ चिरंजीवी बना वो तो भी माफ अब तो डर नहीं उल्टा संकल्प का तो इसलिए कहते चिरजीविका महाभूमो नचिकेत मेढी या ये ये थी ये धातु का अर्थ नहीं समझ रहा हिंदी वाले ये थी को तो ये धातु समझिए वृद्धि ऐसे हिंदी में गलत लिखा है एक धातु नहीं है यहाँ पर अशुभवी धातु का है और यहाँ आनंद विज्ञान में स्पष्ट कहा भी है आनंद विज्ञान लेकिन पता नहीं हिंदी वाले को बुद्धि क्यों पलट गई वेद वृद्धि समझ रहे नोड़ लकार मध्यम पुरुष एक वचन एक दूसरा एक दावा अभ्यास में पश्चिम सूत्र है उससे हुआ है से हे नचिकेता तुम महाभूमो एक ही तुम महाभूमि का राजा बन जाओ कामानम तक कहूँ भाजम करूंगी और क्या कहा जाए जो जो तेरे मन में कामनाएं होगी मैं तुझे कामनाओं को इच्छा अनुसार भोगने वाला बना दूंगा कामानाम काम भाजन कामनाओं को इच्छा अनुसार भोगने वाला बना दूंगा इतना प्रलोभन दिया देखो थोड़ा सा थोड़ी है इतना दे दे तो फिर क्या कहना सब पढ़ाई छोड़ दे इतनी भी जरूरत नहीं बल्कि ये ज्यादा हो एक तुल्यम एतेन यथोपदिष्टेन सदृशम यथोपदिष्टेन इसलिए ये तो तुल्यम है एतेना यथोपदिष्टेन कौन पुत्र पौत्रान इत्यादि सदृशम अन्यम यदि मन से वरम तमप वृणीश्वर अन्य भी कोई वर्णीय है मानते हो उसको भी तुम वर्ण कर लो सह पहले बोल चुके दोबारा क्यों कहा कथ प्रभूतम हिरण्य रत्नादि प्रभूतम असंख्य कोई उसमें जो है नाप तौल नहीं है गिनती नहीं है चिरजीविकांच और कह दिया उल्टा संकल्प न करें इसलिए कह दिया ऐसा स्थिति में भी तुम्हारा नाश नहीं होगा क्यों तुम चिरंजीवी हो जाओ सहावित्य में निश्चित किम बहुना और ज्यादा क्या कहूँ मैं महाभूमो महत्याम भूमो राजा नचिकेत भाव देखो पीढ़िकार क्या कर दे इसलिए तुम जो है इस महाभूमि में राजा हो जाओ राजा ध्यान करना पड़ेगा मंत्र में नहीं इसलिए महाभूमि में बढ़ो वृद्धि हो ऐसा लोगों ने गलत किंच अन्य और भी बात यह है कामानाम दिव्यानाम मानुषानाच कामनाएं कौन सी पहले मनुष्य के योग्य नहीं दिव्य वो देवताओं के योग्य जो भी काम कामनाएं हैं वे भी स्वाम कमने स्वाम काम भाजम काम भागिनम कामारम करो उन कामनाओं के भोग करने योग्य बना दूंगा सत्य संकल्प ही अहम देव और ये मैं सोचो मैं कोई झूठी प्रलोभन दे रहा हूँ फंसाने के लिए मैं देवता हूँ मैं सत्य संकल्प ये नहीं सोचना कि मेरे अंदर एकादश वर देने का सामर्थ्य नहीं है ऐसे मन में नहीं लाना मैं देव हूँ सत्य संकल्प हूँ जो मैं वचन दे रहा हूँ वो तुम्हें देने की क्षमता रखता हूँ और कहते हैं कि देखो इतना सामान्य रूपेण भी कथन किया पहले विशेष रूपेण कथन किया सामान्य रूपेण भी कथन अब कहते हैं कि स्पष्ट करने के ये जो कर दिव्यानंद ये तो भाषा अपने तरफ से करिए कामानाम का व्याख्या दिव्यानाम मानुषानाम लेकिन यमराज इस बात को स्पष्ट करना इसलिए स्वयं अपने तरफ से यमराज जी कहते हैं जो देवताओं को भी अलभ्य भी हो तो भी तेरे लिए लभ्य हो जाएगी और मनुष्यों के अलभ्य तो कहने के ये कामा दुर्लभाम मर्त्य लोग सर्वान काम गुष्ठन तत्प्रार्थी स्व इमा रामा श्रता सतूरिया नहीं दृशालंबनिया मनुष्य आभिर्मत प्रत्याविप्रचारयस्व नचिकेतो मरण मान प्राक्षी बस ओ मत कुछ मरणम न मरणांतर किम भवती नान प्राक्षी उसके बारे में मत पूछ ये काम दुर्लभ अमर के लोग है जो जो कामनाएं प्रार्थनीय है किंतु दुर्लभ है इस के लोक में सर्वान गामन छंद तत्व संकोच की जरूरत नहीं है यहाँ ये मत सोचो संकोच करोगे तुम तो। ये भगने क्या सोचेंगे ये औरत मांगे तो क्या बोलेंगे अरे सोचो ही मत जो मांगने सब मांग लो सब छोड़ो छंदत प्रार्थे से इच्छा था सर्वान प्रार्थ सारी कामनाओं को तुम प्राप्त अरे और क्या हाँ संकोच हो भी सकता है ना इसलिए तो इमा रामा ये जो सुंदर रमणीय औरतें हैं अपसराए सरता रथों के सहित सतूरिया बाजे गाजे भी है कोई डेथ की जरूरत नहीं हाँ तुम बजाओगे क्या फिर नाचोगे सतूरिया ये बाजे भी दे रहा हूँ नहीं इधर दृशा मनिया मनुष्य ही मनुष्यों के द्वारा इस प्रकार जिसके लाभ हो ही नहीं सकता है आप ही मत भी मेरे दर प्रदत्त इनके द्वारा जितनी इच्छा उतनी सीमा लो लेकिन ये नचिकेता उस मरण के बारे में जो प्रश्न है उस ये प्रार्थनी प्रार्थनिया मत जो जो कामनाएं प्रार्थनीय है और लेकिन दुर्लभ है हाँ मत दुर्लभ अमृत लगे जैसे पीयूष पान अमृत पान करना चाहे अमृत कहां से मिलेगा यहाँ यहाँ तो पंचामृत क्या के नाम से आयुर्वेदिक दवाएं मिलेगी और क्या होगा असली अमृत कहाँ मिलेगा यहाँ वो भी तुमको दे देंगे इस तरह की चीजें जो अत्यंत दुर्लभ है मनुष्य लोक में शास्त्री है किन्तु दुर्लभ है सर्वांतम कामान छंद तो इच्छा तक तो प्राप्त उन सर कामराओं को तुम अपनी इच्छा से निसंकोच होकर प्राप्त मांगो दे दूंगा किंच इमा दिव्या अक्सर रमयंदी पुरुषान राम बुद्धि भी जो अप्सराएं इनको रामा क्यों कह दिया कहते क्योंकि ये पुरुषों को रमण कराने वाली आनंदित करने वाली है मौज देने वाली हिमा इंच इमादिव्या ये अप्सराएं ऐसी हैं कैसे ये दिव्या ये विशेषण भी देना पड़ रहा है ये मन में आ सकता है ना अरे इन लोगों को क्या करूँ मैं तो बच्चा हूँ नौ साल का आठ नौ साल का बच्चा क्या करेगा औरतों को रहे मैं यमराज हूँ तुमको जवानी भी दे दूंगा चिंता मत कर जब देने की क्षमता है सत्य संकल्प देता हूँ मैं इन औरतों को दे रहा हूँ तो जवानी दे दूंगा और वो जवानी भी चिरंजीवी जवानी होगी एक रूप बुढ़ापा आएगी ही नहीं चिरंजीवी बने रहो और हमेशा अठारह बीस उम्र का ही बने रहो और इन लोगों को आनंद लो इसलिए कहते दिव्या अक्षरस हो रमयंती पुरुषान न तो बालान पुरुषों को रमण कराने वाली है बालों को नहीं ऐसा मन में आए तो चिंता मत करो वो भी मैं तेरे को दे रहा हूँ साथ साथ जवानी भी दे दे रहा हूँ तुमको इतना ही नहीं सह हृदय ही वर्तनते सरदा रसादियों के सही थे न कोई एक ही बगीचे में तुमको खेल कूद करना पड़े ऐसे नहीं रथ है इन पर बैठेंगी और तुम्हें कुछ करना ही नहीं तुम भी बैठ जाओ ले जाएंगे तेरे को उस जिस उद्यान में चाहो उस उद्यान में चले जाओ ये रथ भी ऐसा ना दिव्य रथ है ये नहीं धरती पर ही चलेंगे तुम संकल्प करो गंधर्व लोग तो गंधर्व लोग को ले जाएंगे तुमको देव चाहो देव नंदनवन चाहो नंदनवन मधुवन चाहो मधुवन जो वन चाहो वो वन में ले जाएंगे तुमको ऐसा दिव्य रथ से युक्त है हाँ? ऐसा दिव्य रथों से युक्त है ये ये साधारण अप्सराएं नहीं है सतुरिया सब और मन को बहलाने के लिए सुंदर बाजेगा जैसे थी तुमको ये जना तुम नारद महर्षि लोग ये भी सब तुम्हारे सेवा में लग जाएंगे बजाएंगे बढ़िया नहीं लंबनिया प्रापणिया ईदृशा इस प्रकार के जो चीज है ना वो आपसे प्रार्थनीय ही नहीं है मनुष्यों के द्वारा एवं विदा मनुष्य ही नहीं लंबनिया प्रापणिया ईदृशा एवं विदा मनुष्य मन मर्ति अस्मदारी प्रसाद मंत्रेण हमारे जैसे देवताओं की कृपा के बिना यह कभी भी प्रार्थनी के प्रापणीय भी नहीं किसी भी प्रकार से प्रापणीय नहीं है ये चीज वो हम तुमको दे रहे आविर मत प्रतावी आवी मत प्रतावी ही मेरे द्वारा प्रदान किए गए इन लोगों के द्वारा मया दत्ता भी मत प्रतावी मेरे द्वारा प्रदान किए हुए इन लोगों को लेकर दत्ता भी गोरचस्ता आदो अच्छा उपसर्गात्ता हो रहे इसलिए परिचारणी भी परिचार इन परिचारिकाओं को लेकर के सेविकाओं को लेकर के अपनी सेवा को प्राप्त कर लो आत्मान पाद प्रक्षालनादि शुश्रूषां कारया आत्मनिर्भर पाद प्रक्षालनादि सेवाओं को इन लोगों से करा लेना नचिकेत तो मरण संबद्धम प्रश्नम प्रश्न नास्ती का कदम परीक्षा रूपम मानस प्राक्षी नयो प्रश्न मरण संबंधी जो प्रश्न है ये आत्मा है या नहीं ये उसी प्रकार का है कौए का एक दांत है क्या अनेक दांत है वास्तव में एक है ना अनेक दोनों ही दांत होते ही नहीं और दांत तो है ही नहीं कवे का दांत होते हैं क्या नहीं होते इन से पूछा जा रहा है कवे के अंदर एक दांत होता है या अनेक होता है ये प्रश्न ही गलत क्योंकि एक भी नहीं है अनेक भी इसी वजह से ये आत्मा आने जाने वाला ही नहीं मरने के बाद कहा देखो पूछ रहे हो लो तो प्रश्न ना ये वास्तव में मरने के बाद यहाँ से जाएगा कहाँ जाता कोई कता जाता है कोई कता नहीं जाता है ये प्रश्न कहाँ से उठा कि ये आत्मा जाने वाला चीज ही नहीं है जो जाता आता है वो आत्मा नहीं तो शरीर है जो आता जाता है वो सुख शरीर है और आत्मा तो कहीं आने जाने वाला है नहीं इसलिए ये कैसा तुमने पूछा मरने के बाद आत्मा कोई कहता है और जाता है कोई कहता नहीं है इसलिए नहीं जाता है तो प्रश्न कैसे उठेगा इसलिए कहते हैं कहा कदम परीक्षा के समान तुम जो है प्रश्न पूछ रहे हो इसे मानव प्राचीन मैं प्रश्न रोसी तुम पूछने योग्य वास्तव में नहीं हो इत्यादि निंदना मैं कहा गया तो परीक्षा के समान क्या करके प्रश्न की निंदा कर रहे हैं ताकि वो चाहता है कि यमराज जी की नचिकेत इस प्रश्न को त्याग दे इसलिए यहाँ का निर्देश कर दिया है उसको जो है निंदा को संकेतित कर दिया प्रश्न निंदनीय है प्रार्थनीय नहीं है और प्रार्थना क्या है पुत्र पौत्रा से जो अभी तक कहा हुआ है क्योंकि मनुष्य के द्वारा भी अलंबनीय अप्रापणीय है ऐसी चीजों को तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए और ये प्रश्न तो कागदंत प्रश्न के समान है इसको तो तुम्हें त्यागना चाहिए ये यहाँ कहने का अभिप्राय एवं मृत्यु प्रलोभ्यमानों भी इस तीन मंत्रों को प्रयोग किया हाँ? बड़ा जबरदस्त लोभन दिया है उसके बावजूद नचिकेता महारदवत क्षोभ्य महारद के समान है वो अपनी जो है मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया अपना जो दृढ़ निश्चय है उसको उल्लंघन नहीं किया महारद के समान कोई क्षोभ उसके अंदर नहीं हो पाया कोई चहल पहल नहीं हुई कोई काम वासनाएं जगी नहीं और उसको तंग नहीं किया और दृढ़ता पूर्वक कहता है क्या कहता है शोभावा मत्स्यदम तथद सर्वेन्द्रिया चरयंती बीज अपि सर्व जीवित अप्यल्पमेव वैभवास्तव नृत्य गीते शोभावा ते तो सब कहते हैं ये कल के सपरा भी देखते कि नहीं देखते इसका कोई भरोसा नहीं कल का दिन भी तक रहेंगे इनका कोई निश्चय नहीं ये नश्वर है अपने घोड़े ये लिया मुझे चिरंजीवी बनाया घोड़े को तो चिरंजीवी नहीं बनाया अपने हाथी को तो चिरंजीवी नहीं बनाया ये अप्सराएं तो चिरंजीवी नहीं है मेरे को चिरंजीवी बनाकर कर ये गरीब मेरे को दुख देना चाहते हो हैं? जैसे कल्प मिटेगा ऐसा मिट जाएंगे मैं तो रह जाऊंगा देखते क्या फायदा होगा ऐसी चिरंजीवी था ठग उठक भाषा मत प्रयोग करो कितना तेज है देखिए कहता है ये संभव है ना भोग काल तक ही रहने वाले शोभा में यावत भोग काल पर्यंत में स्थिति और वो भी पूरा रहे कोई भरोसे क्योंकि मेरे को चिरंजीव ने बना दिया नहीं मेरा भोग काल क्या चिरंजीवी काल हो गया उतरे काल तक ये टिकने वाले है नहीं कहने का मतलब यावत भोग काल पर्यंत भी ये टिकने वाले नहीं है क्योंकि ऐसे अनित्य है यद अंत ये सब के सब अंत हे अंत का यद एतत् सर्वम स्वभाव हे अंत का संबोधन हे मृत्यु देवता अंत को कहते मृत्यु को हे मृत्यु देवता ये जो आपने दे रहे हो ना